ये खेलते खेलते ब्रज बालक कभी कभी कह देते हैं कि भैया देखो हम थक गए बोले जरा हमारे गोद में लेट जाओ हम जरा हवा कर देते फिर खेलेंगे मैंने जो खेलना नहीं चाहते उनके साथ आप खेलना चाहते हैं जो खिलाना नहीं चाहते उनके यहाँ आप खाना चाहते हैं तो जो अपने दही माखन को छिपा रखते हैं उनके घरों में जाकर चोरी करके आप खा लेते हैं तो इनकी बात तो अलग है इनके तो आप बन गए हैं आप इनके जन हैं ये आपके उपास्य हैं ये एक बड़ा सुंदर ब्रज का भाव है जहां श्री राधिका जी श्री कृष्ण आराध्या है श्री कृष्ण की आराध आराधिका नहीं है आराध्या है तो ये ब्रजजन जो हैं ये भगवान के आराध्य हैं इनकी उपासना भगवान करते हैं इनकी सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं इनके लिए आग पी जाते हैं इनके लिए सांप पर खेलने लगते हैं इनके लिए क्या क्या नहीं करते छोटे छोटा काम बड़े से बड़ा काम सब करने पशु पहाड़ उठा लेते तो इनके तो आप हो गए इनकी महिमा की तो बात मेरे मन में भी आ सके वो कहते हैं कि इनकी जो प्रेम प्रेम विकृति है ये विकृति ही सत्कृति है इनकी जो प्रेम विकृति है और उस प्रेम को लेकर के इनका जो ये लीला में कर्म में आपकी सेवा में प्रवृत्त होना है ये तो मेरे हृदय के कल्पना की वस्तु नहीं है इसे मैं विश्लेषण करना तो अलग रहा धारणा में भी नहीं ला सकता मैं तो केवल प्रपंच प्रापंचिक जगत की बात कहता हूँ प्रभु कि ये जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता जब तक आपका जन नहीं बन जाता तभी तक ये तीन प्रकार की विपत्ति उसके पीछे लगी रहती है तावत रागा दयस्तेना स्तेन कहते हैं चोट जो निरंतर लूटते रहते हैं चुराते रहते हैं अपहरण करते रहते हैं तो ये जब तक मनुष्य आपका ही बन जाता जब तक वो भोगों का बना हुआ है जगत का बना हुआ है तभी तक ये रागद्वेश आदि चोर उसके पीछे लगे रहते हैं उसके आनंद धन का उसके ज्ञान धन का उसके सदाचार धन का जो असली धन है उसका अपहरण करते रहते वास्तव में मनुष्य अभागा निर्धन दरिद्र कौन है जिसके पास ज्ञान धन न हो चैत्र धन न हो आनंद धन न हो भगवत प्रेम धन न हो वो निर्धन है कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हुए धनी कौन जिसके पास भजन की संपत्ति जिसके पास दैवी संपत्ति जिसके पास भगवत प्रेम के संपत्ति और जिसके पास प्रेमानंद की संपत्ति वो भाग्यवान वो धनी तो जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता तब तक ये धन तो मिलता ही नहीं इस धन का कहीं कोई पूर्वाभास मिलता है तो उसको भी ये चोर हर ले जाते हैं रागा तेना ये रागा भी जो चोर हैं पीछे लगे रहते हैं नित्य अपहरण करते हैं और महाराज जब तक आपका नहीं हो जाता तभी तक ये घर उसके लिए कैद खाना है उसके बाद वो घर कैद खा नहीं रहता आपका होने के बाद फिर वो घर की कैद उसके नहीं रहती घर में चाहे वो रहे घर में रहना कैद नहीं है घर में ममत होना ही कैद है तो उसकी सारी ममता समर्पित हो जाती आप में घर में रहता आपके लिए वो खाता पीता आपके लिए सोता जगता आपके लिए तो घर का उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं वो घर की कैद में नहीं वो तो आपके चरण प्रांत की कैद में आ गया ये एक बड़ी सुंदर एक गोपी भाव की भावना है कहा है अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है मुखरा ही नित नव बंधन है मुक्ति चरण से झरती है मुखरा ही नित नव बंधन है मुक्ति चरण से झरती है बंधन है वो बंधन अब घर का बंधन नहीं वो बंधन है भगवान के श्री मुखार बंद का उसके देखने में आंखें बंद गई लग गई टिक गई निर्देश नेत्रों से और निष्पन्द हृदय से वो केवल भगवान की झांकी करता है और उस झांकी के बंधन से वो भगवान को बांध लेता है तो ये घर का कारागार तावत कारा गृहम गृहम जब तक ये श्री कृष्ण तुम्हारा नहीं बन जाता आदमी तभी तक उसको ये घर का कैद खाना उसके बाद तो घर हो जाता है लीला क्षेत्र उसके बाद तो हो जाता है घर तुम्हारे खेलने की जगह है और वो तुम्हारे साथ खेलता है और महाराज तभी तक तावन मोह मिली निगरो ये मोह की बेड़ी तभी तक उसकी उसके पैर में पड़ी हुई रहती है पैर को बांधे रखती है निरंतर जब जीव तुम पर नौछावर हो गया तुमको जब उसने अपना सर्वस्व मान लिया इसके बाद भी राग रहता हम राग का विराग उसको विरोध नहीं करते उसके बाद भी बंधन रहता है और उसके बाद भी एक देरी रहती है पर उनका रूप बदल जाता है वो विषय बदल जाते हैं वो चीज दूसरी हो जाती है उसके बाद जीव का राग रहता है सारा का सारा तुम्हारे श्रीकरणों में या जग में जह लगिया तनु की प्रीत प्रतीत सगाई सो सब तुलसदास प्रभु सो हो सिमट ये कठाई ये प्रीत प्रतीति और आत्मीयता ये सब जगह से निकल कर सिमट कर एक भगवान के चरणों में आ टिकती है ये राग ये भोगों में जो राग है इसमें और भगवान में राग इसमें बड़ा अंतर है जगत का सारा राग मल जहाँ धुल जाता है और भगवान का निर्मल राग जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ उस राग का नाम प्रेम है वो भगवान में राग का नाम ये कि जो वैष्णवों के बड़े सुंदर भाव हैं ये तो उसमें अंतिम महाभाव है महाभाव में माजनाथ मोहनाथ ये माजनाथ में सबसे ऊंचा भाव माना जो श्री राजा में प्रकट है ये बड़ी दूसरी चीज है ये वो कविराज पंचायत भाई भले ही आवे तो इनमें स्नेह मान प्रणय इसके बाद आता है राग और फिर अनुराग और फिर फिर भाव और फिर महाभाव तो ये राग जब तक भोगों में है तत्व के लिए चोर का रूप रख करके राग और तमाम सद्गुणों का हरण करता रहता है तमाम शांति का आनंद का हरण कर करता रहता है मन विषय रागी मनुष्य ये चाहे कि हमको शांति मिल जाए ये कभी संभव नहीं है कल दोपहर वो सज्जन आए थे तो कहने लगे शांति नहीं मिलती तो शांति बाहर से तो खरीदने से मिलती नहीं बाहर शांति कहीं है नहीं शांति का तो भंडार भरा है अंदर और वो है भगवान के पाद कमलों में बस उस दरवाजे को खोल दो फिर शांति ही शांति है और बाहर से शांति की खोज करेंगे अमुक अनुकूल परिस्थिति हो जाए अमुक वस्तु मिल जाए इस प्रकार की कोई स्थिति प्राप्त हो जाए तब शांति मिलेगी और शांति दूर से दूर हटती चली जाएगी शांति समीप नहीं आती शांति के बहुत उपाय उसमें दो उपाय भगवान ने प्रधानतया बताए एक जरा देखने में कठिन रूप बात तो वही हो जाती है बिहार कामान ये सर्वाम कुमार सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांत मद सारी कामनाओं का त्याग हो जाए किसी प्रकार की अपेक्षा स्प्रिया रहे नहीं ममता संसार में कहीं रहे नहीं अहंता रहे नहीं तब शांति मिलती अथवा सूर्यम नाम जातवा मांग शांति मृत हम जीव है भगवान हमारे हैं बस भगवान हमारे हैं ये बात जब ध्यान में आया हमारे सुहद हैं हमारे मित्र हैं हमारे बांधव हैं हमारे अपने हैं बस सारी शांति मिल जाएगी जगत के सारे प्रलोभन जगत की सारी कामना वासना जगत की सारी ममता आसक्ति के बंधन पटापट टूट जाएंगे कोई रहेगा नहीं तो ये राग जब तक ये राग भोगों में है तब तक ये राग चोर है ये राग निरंतर ये स्वात्म धन को आनंद धन को प्रेम धन को ये निरंतर लूटता रहता है तो ये कभी भी विषय रागी मनुष्य ये सिद्धांत मान लेना चाहिए विषय रागी मनुष्य विषय राग रखते हुए विषयों की प्रचुर तो प्राप्ति में और अप्राप्ति में कभी भी वो सुख शांति आनंद का की उपलब्धि नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये विषय राज उसका हरण करते रहते हैं निरंतर आने नहीं के पास इसलिए चिंता दुख विषाद भय ये उनके नित्य संगी रहते हैं नित्य संगी काम क्रोध परायणा ये भगवान ने कहा तो विषयानुराग विषयराग ये बहुत बुरी चीज और जहां विषय राग है वहीं घर में ममता है ये घर मेरा घर कैद खाना घर नहीं बांधता हमने अपने आप को घर से बांध रखा ये वहां तो प्रेमियों ने तो भगवान को बांध लिया साधु हो गया भगवान कहते हैं कि साधुओं ने मेरे हृदय को पकड़ लिया है ग्रहण कर लिया है ग्रस लिया है बंधन में है मेरा हृदय उनके और यहाँ दूसरी चीज है हमने अपने आप को घर के साथ बांध दिया इसीलिए मृत्यु के समय दुख होता है घर से निकाल देते हैं वो जीवात्मा जो है वो इस शरीर से अलग होकर देखता है उसे दिखाई देता है कि जिस घर का मैं स्वामी बना हुआ घर की एक एक चीज पर मेरी ममता किसी को नहीं देता था देखने के लिए चाबी अपने पास वो सारी चाबी लोगों ने छीन ली सारी वो पेटियां खोल ली और सारी ममता की चीज छिन रही है और रोता है पर बाध्य है वो जाने के लिए बाध्य छोड़ने के लिए इसी से वो दुखी होता है लेकिन जो इस ममत्व को जिसने छोड़ दिया छोड़ेगा कौन इस ममत्व को जिसका मत उनमें लग गया तुलसी ममता राम सो समता सर संसार रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार ममता राम सो और समता सब संसार जहां राम से ममता हुई कि तो जगत में समता आ गई ये जगत के पदार्थों में जहां ममता है प्राणियों में ममता है वहीं विषमता है ये मेरा और ये पराया ये मेरा ये दूसरे का मेरा रहे दूसरे का अगर मेरा रहने में जाता हो तो भले चला जाए और अगर किसी को किसी वस्तु को मेरा बनाने में दूसरे का मेरा छिनता हो तो छिन जाए ये समता नहीं रहती विषमता रहती सुख दुख मान अपमान ये तमाम विषमता रहती तो घर कैद खाना है लेकिन भगवान का हो जाने पर ये घर हो जाता है लीला मंदिर कैद खाना नहीं यहाँ भी तुम्हारे साथ खेलेंगे और वहाँ भी तुम्हारे साथ खेलेंगे हमें तुम्हारे साथ खेलना है करैया और कि तुम चाहे वृंदावन में रहो और चाहे कहीं रहो हमें तो तुम्हारे साथ खेलना है जहाँ तुम नहीं हमारा घर जहाँ राम तुम अवध वासु जहाँ राम वही अवध जहाँ श्याम सुंदर वही हमारा घर ये घर का कैद खाना नहीं रहता श्याम सुंदर हमारे हृदय घर में कैद हो जाते और तीसरी बात मोह की बेड़ी ये बड़ी भयानक है मगा महाराज दिखती नहीं है बड़ी बुद्धिमानी से आदमी कहता है बोले हम तो कर्तव्य पालन कर रहे हैं घर में रहते हैं हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं पर अगर अंदर जाकर के कोई देखे तो जिम्मेवारी है या मोह है क्या पता लगता है मोह रहता है और ये सारा मोह जब भगवान में आ जाए तो फिर ये मोह ही उसके लिए बड़ी श्लाघ्य वस्तु आदरणीय वस्तु होता है भगवान में मोह क्या बढ़िया चीज है भगवान में मोह सारे जगत के मोह को खा जाता है तब भगवान में होता है जगत का सारा मोह जहाँ पर भस्मसात हो जाता है वहाँ भगवान का मोह प्रकट होता है भगवान का मोह जहाँ प्रकट हुआ वहाँ उसने जगत के सारे मोह को आत्मसात कर लिया तो कहते हैं उस बड़भागी प्राणी का जो भगवान का हो जाता है ये तमाम बदल जाता है उसका ये जो विषय पद पद पर अनुताप देते थे जो पद पद पर विश्व की ज्वाला से जलाते थे जिनसे मन प्राण झुलसे रहते थे वो मोह अविवेक विचित्र रूपांतरित हो जाता है वो बस ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे तो चरण कमलों के चिर बंधन में बंध में बांधकर उन उन चरण कमलों के सिवा और कोई सत्ता है उस सत्ता को ही वो मोह ढक देता है वो मोह भगवान नहीं ढकता वो भगवत चनार बिंद के अतिरिक्त अन्य सत्ता मात्र को ढक देता है कुछ है ही नहीं और वो तुम्हारे निर्मल आनंदमय पारावार हीन जो लीला रस सिंधु है इसमें सदा के लिए रम जाता है ये मोह है तो ब्रह्मा जी कहते महाराज इनकी बात तो मैं नहीं कह सकता ये जो ब्रजवासी जन है ये गो गोप गोपी जन इनके तो आप हो गए आप इनके जन बन गए इनकी तो इनके संबंध में तो कल्पना करने का मेरा अधिकार नहीं परंतु संसार में इस प्रपंच में जो आपके बन जाते हैं उनके पास ये राग नहीं रहता चोर रूप से ये घर नहीं रहता कैद खाने के रूप में और ये मोह नहीं रहता पैर पैर की बेड़ी के रूप में प्रपंचम निष्प्रपंचोपी विडम्ब यश भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम पथितुम प्रभु जानंत व जानन्ते किम बहुक्त्या नमे प्रभु मनसो पुसो वाचो वैभवम सब गोचर इतना कितनी बढ़िया बात ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी बोले महाराज यहाँ पर हम दो चीज देख रहे हैं आपने ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने हाँ, समय दो चीज दिख रही यही भगवान की भगवत्ता जहाँ परस्पर विरोधी गुण एक साथ एक समय वर्तमान जिसमें हो वो भगवान है नहीं तो फिर एक को माया मानना पड़ता है एक को माया माना कि भगवान के लीला गुण जो हैं ये सब के सब खो दिए ये रहते नहीं क्योंकि एक को माया मानेगा दूसरे सिद्ध नहीं होती तो ज्ञान को तो माया मानते नहीं माया मानते लीला को तो लीला जहाँ माया वहाँ लीला मैं भी माया इसीलिए वहाँ उनके जो ईश्वर हैं वो मायोपाधिक ईश्वर होते हैं ईश्वर नहीं होते जब तक माया तब तक ईश्वर की सत्ता माया नहीं तो ईश्वर की सत्ता भी नहीं तो ब्रह्मा जी यहाँ पर ये बड़ी सुंदर बात प्रपंचम निष्प्रपंच निष्प्रपंचोशी ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज कि तुम्हारे लीला विलास की आड़ में हमें दो वस्तु दिख रही है एक तो आपका कसमोर्ध ऐश्वर्य ये मैंने स्वयं देखा प्रत्येक रूप में मैंने नारायण के दर्शन किए चतुर्भुज नारायण तमाम तत्व तमाम वस्तुएं तमाम भाव तमाम परिस्थितियां केवल प्राणी नहीं ये सब के सब तुम्हारे रूप मैंने देखे ये अनंत ऐश्वर्य मैंने देखा और दूसरा कि माधुर्य के झूले पर आपको झूलते देखा मन माधुर्य के झूले पर आप झूल रहे हैं आप सर्वकार सर्व कर्म कारण सारे कारणों के आप कारण हैं लेकिन आप वही सर्व कारण कारण इस ब्रजपुर में ब्रजेन्द्र गृह में ब्रजराज बजरानी के नंद इसके पुत्र रूप में वीर सुंदर रूप में मानो जन्म लेते हैं ये दिखाई दिया सर्व कारण कारण है और इनसे आप जन्म लेते हैं इनके पुत्र बनते हैं आप में कोई विकार नहीं सर्वथा विकार है सच्चिदानंद दूर है ये मैंने देखा स्वयं और वही आप हमारे भूख के व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि मैया माखन देव तो बड़ी भूख लगी मैया स्तन पीऊंगा मैं तो अब भूख लग गई मचल जाते और जिनमें किसी दोष की गंध नहीं मने जिनके स्मरण से दोषों का अभाव किया जाता है जो सर्व कल्याण गुण गण समुद्र हैं जहां पर दोषों की कल्पना नहीं विकार की कल्पना नहीं प्रपंच के दोष जा जा करके आपने मक्खन चुराया कितने देश की बात और आप आत्माराम सुखदेव जी ने वहां कहा रासलीला में कि आत्मा राम का रमण है उसका अर्थ दूसरा होता है आत्मा कौन उसमें रमण कैसा वो अलग चीज तो कहा आप आत्मा राम है निरंतर अपने आत्मा में अपने स्वरूप निश्चित हैं तो आत्मा राम होते हुए भी आप इन गोप बालकों के साथ खेलते घरौंदा बनाते हैं मिट्टी का लहौंदा बना के खेलते हैं और कोई अगर टूट गया लहौंदा तो रोने लगते हैं खींच जाते हैं ये आत्मा राम का ये ये, ये रमन हमने देखा इस प्रकार एक तरफा प्रपंच से सर्वथा शून्य है कहीं पर भी किसी जागतिक भाव का किंचित मात्र भी प्रकृति का संबंध आपके साथ नहीं और ठीक उसी समय उसी के साथ साथ आपका जन्म है दिन रात पक्ष मास वर्ष के अनुक्रम से आपकी आयु बढ़ती है तो चाहे किशोर होते रह जाए पर आपके श्री अंगों की वृद्धि देखी गई छोटे से शिशु बनने से बड़े हुए घुटने घुटनों के बल चलने लगे बकैया चलने लगे उसके बाद मैया ने चलना सिखाया हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाया उसके बाद दौड़ने लगे और अब बड़े हो गए तो कहा तो तुम्हारे अंदर किंचित मात्र भी जागतिक भावों का प्रत्यापंचिक भावों का कोई संबंध विकार नहीं और कहा आपके श्रीअंगों में हमने वृद्धि देखी ये क्षुदा के पासा ये बा, बार सुलभ चांचल्य चंचल था ये मानो भावों के स्रोत रूप से ये संगम ऐश्वर्य माधुरी का संगम ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी लीला मंदाकिनी ये जब बहने लगती है तो विश्व के समस्त भाग मानो एक ही साथ तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाते हैं तो तुम्हारी कितनी प्रीति है अपने जनों पर इन स्वजनों के पर तुम्हारा तुम्हारी कितनी आसक्ति है इसीलिए जो एकमात्र तुम्हारे चरण कमलों के आश्रित हैं तुम्हारे चरण कमलों की शीतल छाया ही ये जिनका नित्य निवास है उन अपने निज जनों को उन भक्तों को ये अपरिसीम आनंद प्रदान करने के लिए तुम्हारी सब लीला है